और जरा प्रकुल द्वार पुकारा बाली रुकबल सहे न पारा अभी रात्रि के तो रात की कोई बात नहीं लेकिन बाली को तो स्वभाव अहंकारी स्वभाव था उसने रात्रि में ही जो वो कर दिया उसको युद्ध करने के लिए उसने रात बात एक नहीं देखी बाली भी बड़ा अपने आप को कम नहीं समझता था होगी रात होगी रात रात नहीं निशाचर तो होगा निशाचर हम बोलेंगे उसको कर दिया रात्र में तारा ने मना किया उसकी पत्नी का नाम था तारा उसने मना किया कि बेटे रात्र में उसने लगाओ लेकिन उसकी बात कर और चल दिया और आकर के जैसे जैसे बाहर फाटक खोल करके आया उसे और तो उसके बाद में क्या हुआ कि भावा बाल देश शोभागा ये पहले पुरस्कार था कि महाराज की बाड़ी निकलेगा नहीं जब लेकिन किसी बाड़ी निकला बाहर और गर्जता हुआ बाड़ी निकला बाहर सब तो चिल्ला रहे हो तुम किसको तुम बोल रहे हो ऐसे करके जैसे बोला कि जैसी बाली को देखा तैसे वो भाग मायावी बताने उनके सामने अब इसी को पता लगता है कि मायावी केवल झूठ मूठ की प्रशंसा लेने के लिए बाल के पास आया था कि बाल निकलेगा तो नहीं घर से और हम विजय प्राप्त कर लेंगे लेकिन बाल निकल आया क्या उसने सोचा हमारा अनुमान तो गलत निकल गया अब भागा वो तो भावा बाल देख से भागा मैं तुम गये बंदी संग लागा जब बाल बाहर निकला तो सुधरी कहते कि मैंने भी वो बात सुनी कि वो ललकार रहा है और जब देखा भी बाल निकला तो उसके साथ मैं भी निकला उसके साथ अब ये सुग्रीव दिखाते हैं कि हमारी और बाल में बड़ी प्रीति अब बाल जाए अकेला करा जाए और सुंदरी घर में बैठा रहे ये तो ठीक नहीं है ये भाई भाई की प्रीत ठीक नहीं है इसलिए जब वो जब बारी लगने के लिए गया तो सुग्रीव अपने भ्रात प्रेम के कारण से उसके साथ उसके पीछे गया मैं पूरी गई बंद संग लागा बंद संग लागा बड़े पीछे पीछे मैं भी उनके साथ भागा भाग गया उनके साथ अपने बालू के साथ और गुरु गुरु गुहा पल के सो जाई और देखो वो जब भागा दिखाकर तो कभी रुका नहीं तो लड़ने को तैयार नहीं हुआ बल्कि पहाड़ की दुकान है जहाँ निशाकर लोग तमाम रहते थे वहाँ घुस जाओ उसमें उसके भाई बंधु और लोग रहते थे रिश्तेदार तमाम निशाचर लोग जिस गुफा में उसी गुफा में जाकर घुसते उसने सोचा कि अब अब उसके बाल से हमारे प्राण बचेंगे नहीं गुफा में भाग चले तो एक तो बाल अंधेरे के कारण गुफा में आएगा नहीं यहाँ दरवाजे तक आकर के ललकार करके हमको भाग जाएगा वापस चला जाएगा उसने गुफा में घुस गया दूसरे कहा अगर गुफा में बाल आ भी गया तो हम अकेले नहीं होंगे और निशाचर हमारे साथ होंगे वो सब हम मिल करके बाल से अकेले में महागुफा के भीतर लड़ लेंगे और आप बालक को मार भी देंगे हो सकता है कि बाल में मारा जाए कैसे सोच करके वो हो उसको दिखाकर भीतर घुस गया गिरिवर गुहा कैसे सो जाए तब बाली ने कहा बुझाई जब उसके भीतर घुस गया तब बाली ने देखा कि हमने पीछे पीछे चले आ रहे हैं तो बाली ने मुझे समझाया कहा कि देखो मैं गुफा के भीतर जाता हूँ तुम मेरे साथ अब यहाँ मत आना तुम यही बाहर ही रहो उसके कई कारण हो कहा बुझाई तो मैंने उसके जितने भी कारण थे वो समझाए मैंने जितने भी कारण समझा रहे थे भूल जाओ भीतर बात बाले ने उसको सब कारण समझाए कि देखो वहां पर अगर मान निशाचर हुए और अगर वो उसने हमको निशाचर ने हमको मार भी डाला तो उसके बाद तुमको भी मार डालेंगे और दोनों भाइयों को मार डाला तो फिर राजा कोई नहीं रहेगा ये सब गड़बड़ी होगी इसलिए तुम यही रहो हम उससे युद्ध कर लेंगे अकेले <coughs> उसको मार लेंगे और उसके बाद हम आ जाएंगे तुम बाहर ही रहना और ये भी हो सकता है कि ऐसा न हो कि कुछ निशाकर आसपास कहीं पर्वत के कहीं छिपे हों और हम दोनों भीतर घुसे और वो सब निशाकर पीछे से आ गए तो उधर की तरफ गुफा में भीतर की तरफ भी निशाकर होंगे और पीछे की तरफ निशाकर आ जाएंगे तो फिर वहाँ हम लोग संकट में पड़ जाएंगे इसलिए तुम बाहर ही रहो अभी निशाकर उसमें घुसे में पाओगे गुफा में जो तो देते और भीतर जो होंगे उनसे हम निपट लेंगे तुम इसलिए यहाँ प्रतीक्षा करना नहीं रहते तो सारी युक्तियाँ समझा करके बाल जो सुग्रीव को गुफा के भीतर घुस गया और परिचय मोही एक पखवाड़ा और उसने ये भी बता दिया कि देखो एक पखवाड़ा में पंद्रह दिन तक तुम तो मेरी तुम्हें हरासा देखना बाली समझ लिया कि पंद्रह दिन अगर मैं उसको युद्ध करूंगा उसके साथ में तो या तो हमारी ही शक्ति समाप्त हो जाएगी मैं मारा जाऊंगा अथवा उसी को मैं पंद्रह दिन में मार लूंगा ये अंदाजा लगा लिया उसने कहा कि पंद्रह दिन के भीतर ही सब काम समाप्त हो जाएगा निर्णय हो जाएगा उसमें पंद्रह दिन तक तो हमारी रास्ता देखना और मैं आऊ तो जाने से मारा और पंद्रह दिन लग जाऊँ मैं न निकलू वहां से तुम समझ लेना की मैं मारा गया <coughs> मैं मारा गया तुझे तो समझ करके तुम लौट जाना ये भी इसका निकल हो गया तो अब ये सुग्रीव कहते हैं मैंने क्या किया कि बाल पे तो चला गया और उसके साथ युद्ध होने लगा जाकर के भीतर जाकर के मायावी के साथ में लेकिन मास दिवस कहाँ रहे खरारी खरारी भगवान के लिए संबोधन है तो ये भगवान मैं वहाँ पंद्रह दिन की बात कौन कहे मैं एक महीने भर वहाँ रहा मैंने सोचा कि पंद्रह दिन की तो उसने बात कही थी हो सकता है कि और देख लो और देख लो और देख लो तो हम और प्रतीक्षा करते रहे और एक महीने भर रहे मैंने हमने अपनी तरफ से कोई गलती नहीं की ऐसा नहीं पंद्रह दिन के पहले हम भाग होते हमारे हम पंद्रह दिन के बाद भी एक महीने तक रुके और फिर देखा मिश्री धार कहा भारी तब देखा कि गुफा के भीतर से बड़ी धारा रक्त की बहुत धारा निकली तो हम समझे कि उसमें जो है बाली बड़ा शक्तिशाली उसको बाली को इन लोगों ने निशाचरों ने मार दिया तो बाली का ही खून बहता हुआ आ रहा है हमने ये सोचा कि बाली मारा गया तो बाली हर से नहीं मारी ही आई क्या निशाचरों ने बाल को मार दिया है अब वो निकलेगा निशाचर तो बाहर आएगा जब मुझे दोष होगा तो मुझे भी मार दे तो बाल को मार दिया तो मैं कौन होता हूँ मैं तो उसकी सबसे और निकाल देती ऐसे समझ करके मैं वहाँ से चला आया तो क्या क्या शिला देवी कहाँ चले पर आई तो शिला देवी तो मैंने दरवाजे के ऊपर एक बड़ा भारी पहाड़ ऐसा पत्थर उठा करके उसके भीतर जितना बड़ा दरवाजा नहीं था उसका गुफा का उससे भी बड़ा एक पत्थर रख दिया ये पत्थर जो लग गया अब वो निशासक जब मायावी आएगा तो एक तो पत्थर रख देने के कारण गुफा बिल्कुल अंधेरा है बहुत दूर तक अंधेरा हो जाएगा गुफा में कहीं उजेले की सवेरे की दिन भी होगा तब भी कहीं कोई उसे जो वो हो <clears throat> उजेला नहीं दिखाई देगा तो भटकता भटकता दरवाजा ढूंढेगा धीरे अंधेरे में तब बाहर निकल पाएगा और दूसरी बात जब दरवाजे पर आएगा भी तो वो पत्थर धरा हुआ देखेगा तो पत्थर उसे हटाना पड़ेगा उसका भारी पत्थर हटाना पड़ेगा तब निकल पाएगा उसमें उसे देर लगेगी कम से कम तुरंत नहीं निकल पाएगा जो हमारे पीछे दौड़ करके आ जाए और हमारा भी पीछा करने लगे तो जैसे अपने आप की रक्षा करने के लिए मैंने ये उपाय सोचा कि उसके गुफा के ऊपर एक भारी पर्वत पत्थर धर तो शिला देवी कहा चले ऊपर आई चले ऊपर आई तो मैंने भाग आया है हम्म, धीरे धीरे नहीं भाग खड़ा हुआ है वहाँ से यही समझ करके बस अब वो <clears throat> आते ही होगा हम्म, माया भी ऐसे समझ कर कुछ डर के मारे में भगा चला और नगर में आ गया अपने नगर में जब आ गया तो अब दो बातें एक बात तो ये कि जब लोगों ने नगर में देखा कि सुग्रीव आ गया तो लोगों ने पूछा मंत्रियों ने भी पूछा कि भाई बालिका क्या हुआ थे तो सुग्रीव ने बता दिया सारी कथा बता दी तो ऐसा लगता है मायावी ने बालू को बांटा एक बात तो ये <clears throat> मैंने जो लोग जो है अपने पुराणों के लिखने वाले हैं उन पौराणिकों के मत भिन्न भिन्न है एक पौराणिक कहता है कि जब सुग्रीव लौट करके आया <coughs> तब उसने बता दिया कि ऐसा लगता है कि पाली को मायावी ने मार दिया हम महीने भर तक रास्ता देखते रहे खून की धारा निकली तो फिर हम पत्थर लगा करके दरवाजे पर हम चले गए <coughs> एक यह वो मत एक पुराणकार का मत ये है कि सुग्रीव ने आकर के किसी को कुछ नहीं बताया लोगों ने पूछा बाल का क्या हुआ कहा कि बाल गुफा के भीतर घुस गया उसे युद्ध हो रहा है मायावी से कब तक युद्ध चलेगा आप क्या पता उसके भीतर कब तक युद्ध चलेगा <clears throat> तो कहा कि ये बात भी उसमें जो हो दो दो मत इस प्रकार के प्राणकारों के थे लेकिन तुलसीदास ने क्या किया अब तुलसीदास ने समन्वय का काम अनेक प्रकार से किया तो यहाँ भी देखो समन्वय कर दिया दोनों की बात को मंत्र पुर देखा दिन साई और दिन में ही राज बरियाई अब तुलसीदास राशि दोनों में से एक बात भी नहीं बोलते मैं ये कहते कि सुग्रीव ने ऐसा कहा कि सुग्रीव ने वैसा कहा जब देखा कुछ दिन और <clears throat> तो वहां पर उन्होंने मंत्रियों ने देखा जब कोई राजा है नहीं है तब तो कोई नहीं कोई कोई राजा होना चाहिए और मंत्रियों ने अपने आप से समझ लिया कि अब बाली नहीं लौट करके आ रहा है माने इसको मैंने मारा गया होगा तो उन्होंने मंत्रियों ने जबरदस्ती को राजा बनाया सुग्रीव इसके मैंने सुग्रीव ये सफाई देना चाहते हैं कि मैं राज्य का इच्छुक नहीं था <clears throat> मैं ये गुफा के दरवाजे के ऊपर पत्थर रखा है इसलिए नहीं रखा है कि अब बारी गुफा के भीतर से निकल नहीं पावे और हम ही राजा बन जाए ऐसा नहीं था और अगर है राजा बनना हो तो पंद्रह दिन के पहले वहां से लौट करके आ जाते और लोगों को बता देते कि बाजी मारा गया और हम राजा बन जाते लेकिन जो सुग्रीव ने पूरी सफाई दी कि हम राजा बनने की इच्छा हमारे मन में रमचमाते भी नहीं थी और जब हमने लोगों से कहा कि बाली मारा गया है अब राजा किसको तुम बनाते हो हमको बना दो तो वो भी बात हमने नहीं कही लेकिन मंत्रियों ने देखा कि अब उस समय बाल के बाद राजा बनने के योग्य नहीं हूँ तो मुझको राजा बना दिया गया तो कल मंत्र ने पूरे देखा दिन साई साई मन कोई राजा नहीं स्वामी नहीं उसका है <clears throat> तो दीनी मुई राज बढ़िया आई तो देखो उन्होंने मुझे जबरदस्ती राजा बना लिया बरियाई क्या है मैंने बरियाई बन जबरदस्ती <clears throat> जबरदस्ती राजा बना दिया मैं नहीं चाहता था राजा जब बनने के राजा क्यों नहीं बनना चाहता था उसके पीछे और कथा ये भी कह सकते हैं मान सकते हैं तो सुग्रीव ने कहा कि भाई अंगद भी तो है वो भी तो युवा हो चला है उसको राजा क्यों नहीं बना देते अंगद था ही था उस समय <clears throat> और वहां शक्तिशाली भी था बाली का पुत्र था तो सुग्रीव ने कहा कि अध्यक्ष बनाओ लेकिन मंत्री नहीं माने मंत्रियों ने कहा कि नहीं अंगद को राजा नहीं बनाएंगे तुमको राजा बनाएंगे अब जब मंत्री हमारे पीछे पड़ गए और अंगद भी तैयार हो गया इसके लिए उसने भी कुछ विरोध नहीं किया तो हमने कहा जब सब चलो हमारी पीछे पड़े राजा बना तो बना दो तो कहा इस प्रकार से दिन नहीं राज बरी आई और उसके बाद ये क्या कि बाली का ही मार ग्रह आवा लेकिन उधर क्या हुआ कि बाली ने जो है उसको मायावी राक्षस को गुफा के भीतर एक महीने के बाद मार पाया उसको तब तक युद्ध होता रहा और जब माया माया मारा तब वो गुफा के बाहर निकला तो देखा बड़ा भारी पत्थर वहाँ भरा हुआ तो उस पत्थर को उसने उसने जब सुग्री उस पत्थर को रख सकता था उसके ऊपर द्वार के ऊपर गुफा के तो बाली को तो ज्यादा शक्ति थी तो उसने हालांकि लड़ते लड़ते थक गया था लेकिन उसने थोड़ी देर सांस ली अपने फिर ताकत ली भरी उसने और उसके बाद वो पत्थर भी हटा दिया और निकल आया बाहर और पत्थर हटा करके आ गया बाली ताई मारी ग्रह आवा घर आ जाओ फिर अपने सिंधा नगरी में आ गया और राजभवन में आ पहुंचा आकर के बालू और देश मोई की भेद बढ़ावा और जब उसने मुझे देखा कैसे देखा कि हम तो राज सिंहासन पर बैठे जो समय हुआ आया उस समय राजसभा लगी हुई तो मैं सिंहासन पर बैठा हुआ था तो जैसे उसने देखा अरे ये तो सुग्रीव आकर के राजा ने कहा करके हमारे सिंहासन के ऊपर विराजमान है बस उसका अहंकार उसमें क्या हुआ उसने देश मोह की भेद बढ़ावा बस वहीं से उसके मन में भेद बुद्धि उत्पन्न हो गई भाई भाई वाली प्रीति थी समाज अब जैसे जो बैर उत्पन्न होते हैं ये सब <clears throat> सारे संसार में प्रसिद्ध है कि कहीं तो धन के कारण राज्य के कारण स्त्री के कारण पद के कारण ये संसारी वस्तुएं जिनके कारण व्यक्तियों में बैर पैदा होते हैं अगर कोई विरक्त व्यक्ति हो उनकी कोई काम नहीं रख सकते तो उससे भला कम बैर बनेगा हम्म। बैर के हेतु यही है माली ने देखा कि लोग हमारा भी बैठा हुआ सिंहासन में बैठा हुआ बस देश में उनकी अभेद बढ़ावा और रूप समय नहीं मारे से अति भारी बस अब वो जैसे ही ये हुआ तो अब वो विरोधी बन गया विरोध के बाद क्या हो गया हमने सामना होगा एक दूसरे के और बाद में हमें उसी समय सिंहासन से घसीटा अब देखो कहा राजा बने हम बैठे और कहा बाली ने आकर के सिंहासन से घसीटा और मुझे खूब मारा अरे मैं तो भाई से लड़ नहीं सकता था भाई गृह ने जो नहीं कहा कि तो मैं भी उसे लड़ा हम्म? उसने मारा तो हमने मार खाई लेकिन उसने इतना मारा इतना मारा कि मार डाले में तैयार हो गया आगे थे भाई हम्म? तो कहते रिव समान नहीं मारे कहते रिव समान शत्रु को जब कोई मारता तो मार डालने की कोशिश करता तो भारी ने मुझे इतना मारा इतना मारा कि मार डालने में तैयार हो गया तो रिव समान नहीं मारे से तो अति भारी हर लीन से सर्वसारो नारी और उसने राज्य को सब मेरा हरण कर लिया और उसके साथ साथ पत्नी मेरी थी वो भी उसने हरण कर ली उसको भी नहीं छोड़ा और हमको हमारे पीछे पड़ा मेरे पीछे दौड़ा मेरे और ताके भय रघुवीर कृपाला उसके बाद ही सुग्रीव भागे सुग्रीव भागे तो बाल भी सुग्रीव के पीछे दौड़ा अब वो उतरा विस्तार होकर पिछला नहीं किया कहते बाल फिर भागा तो सुग्रीव भागा तो बाल भी उसके पीछे उसके पीछे दौड़ा भागते थे सुग्रीव भागते भागते फिरे भागते भागते फिरे बाली जो है वो लौट आया अपने सिंहासन पर बैठा सुग्रीव भाग गया लेकिन बाली को मालूम पड़ा कि अब सुग्रीव इस समय अमुक स्थान पर है तो फिर बाल फिर दौड़ा बाल को सुग्रीव को पीछे मारने के लिए तो उसको सुग्रीव वहां से भी भागा जब वहां से भागा जाकर दूसरी जगह से छिप गया तो बाल फिर लौट करके अपने राजधानी में चला गया तब कहते हैं कि इनके हनुमान जी और ये मंत्री इन लोगों ने पता लगाया कि सुग्रीव कहाँ छिपे हैं <clears throat> तो ये जामवान हनुमान नल नील ये सब जिन जिन मंत्रियों ने सुग्रीव को राजा बनाया था उन मंत्रियों को भी बड़ा ये अन्याय लगा तो देखो हमने उनको राजा बनाया सबने मिलकर के और बाली ने इसको इस प्रकार से उनको सब मार डालने को तैयार हो गया और बात भी नहीं सुनी न सुग्रीव की बात सुनी न हम लोगों से पूछा पाछा इसलिए जितने मंत्री थे वो सब सुग्रीव के पक्ष में हो गए उन्होंने सोचा कि सुग्रीव न्याय के पक्ष में है और भारी अन्याय पर तैयार हो गया है इसलिए मंत्रियों ने भी बाली को त्याग दिया और वे मंत्री लोग सुग्रीव के पास आए और सुग्रीव से हनुमान जी कहते हैं सुग्रीव हनुमान जी ने सुग्रीव को सजाया कि देखो एक स्थान ऐसा है कि तुम कहाँ कहाँ भागते फिरोगे विश्व पर्वत पर चलो वहाँ पर बाल नहीं आ सकता मतंग इसका साफ का स्मरण मिला तब सुग्रीव को होश क्या हाँ तुम बिल्कुल ठीक कहते हो तो हनुमान जी के कहने से ये सुग्रीव जो है सभी पर्वत पर आकर के बात करने लगे थे और लेकिन ये प्रभु तो कहते हैं कि ताके भैर गुबीर कपाला सकल सकल भूल में फिर बिहाला हम्म? मैंने सब जगह जगह जगह छिपते भागते फिरते रहे लेकिन बाल जहाँ पाता सुन पाता था जो सुधु के स्थान पर है वहीं पर दौड़ता था मुझे मारने के लिए तो मैं फिर भागता था वहां से सकल भूल में सब जगह जगह भागते फिर हम उसके प्राण बचाए हुए लेकिन फिर अंत में यहाँ सात बसे आवत नहीं लेकिन उस ऋषि पर्वत पर वो बालिश साप के कारण से नहीं आता तो यहाँ आएगा तो उसका सिर फट जाएगा बट अमृत के साप के कारण से इसलिए हम यहाँ पर आए कदम सभी तरह मन माही लेकिन अभी हमारा भय नहीं गया हम अभी डर लगता रहता है कि बाल नहीं आता होगा तो कोई न कोई बाल युक्ति करेगा कोई न कोई उपद्रव करेगा तो छोड़ेगा नहीं हमको जब हमको मार डालने को तैयार हो जाए तो हम भाग खड़े हुए नहीं तो हमारे प्राण बचते नहीं <clears throat> तो सोचता सोचता इसलिए अब यहाँ पर फिर भी मुझे डर लगता रहता है उसका तो मुझे मारेगा तो कदम सभी रहू मनमाही तो बस यहाँ तक जो बात सुग्रीव की कथा पूरी बता दिया कि भगवान ने पूछा था कारण कदन बस उदन नो ही कहो हो तुम क्यों रहते हो तो आप बता दिया कि इसलिए जो है यहाँ पर यहाँ का तो बस आवत नही कदम सभी मन माही भगवान के प्रश्न का उत्तर हो गया तो अब भगवान ने क्या किया जब देखा अब इतनी देर में कथा सुनते सुनते भगवान का हिसाब लगाते रहे कि देखो कौन धर्म के मार्ग पर है कौन अधर्म के मार्ग पर धर्म की तराजू लिए तोलते रहे बाली को भी और सुग्रीव को और सुग्रीव के मुख से सब बात सुन करके भगवान ने ये निर्णय कर लिया कि <clears throat> अब उसके माने जो है कि सुग्रीव का कोई अपराध नहीं है लेकिन फिर भी बाली ने सुग्रीव को जो है इस प्रकार से मारा और पैरों कर लिया ये उसका अधर्म है एक बात ये भी भगवान ने सोच ली कि अगर मान लो राज्य मंत्रियों ने दे दिया था सुग्रीव को तो जब वो बाले आया था तो सुग्रीव को हटा करके फिर राजा बन सकता था तो राज्य उसने ले लिया तो उसमें कोई बड़े अधर्म की बात नहीं है कि उसने जो है वो सुग्रीव का राज्य ले लिया सुग्रीव का राज्य था ही नहीं बाल का ही राज्य था वो अपना राज्य उसने ले लिया तो ये कोई बड़े अधर्म की बात नहीं हुई इसमें न्याय की बात है लेकिन जब उसने कहा कि ज्योतिष हमारा था अब भाई होने के नाते एक राजा का भाई होने के कारण जितने भौतिक सुख सुविधा के साधन अच्छा भवन अच्छे सेवक पत्नी इत्यादि ये सब जैसे राजा के भाई के होने चाहिए वो सब सुग्रीव के थे वो भी सब हरण कर लिया अरे सब हरण कर लिया तो नाराज था तो उसको कम पैसा देता उसके भरण पोषण के लिए कम सहायता करता कुछ करता लेकिन उसकी पत्नी तक उसे हरण कर ली अब मैंने उसने अति कर दी अब ये सब भगवान ने देखा कि इसके माने ये भगवान को ये लगा कि पत्नी धारण कर लेना उसका जो रोग सुना लेना ये ज्यादा धर्म की बात है बाजू चल करके देखेंगे तो भगवान जब बाल से शिकायत करते हैं तो इसी बात की शिकायत करते हैं बाल पूछता है कि मैंने क्या अपराध किया था जो हमें मारे में ज्यादा नहीं जब वो बाल पूछता तो भगवान यही कहते हैं आकर के कि तुमने ये अपराध किया राज्य की बात करना नहीं करते तब ये देखो यहाँ पर भगवान ने यहाँ समझ गए कि देखो कि इसमें सुग्रीव जो है धर्म के मार्ग पर है पक्ष पर है और बाली जो है वो है उसने अधर्म अंगीकार कर लिया है और अधर्म क्यों अंगीकार कर लिया और ये सब धर्म को पता लगता है कि मायावी इत्यादि को मारा और उसको जिंदगी को मारा और सब इसके मैंने अहंकार भी उसको बहुत है और दूसरे उसको काम क्रोध भी उसे बहुत है काम का भी प्रमाण मिल गया क्रोध का भी प्रमाण मिल गया तो बस भगवान के लिए बाल को मारने के लिए कई हेतु दिखाई पड़ गए और उन्होंने भगवान ने निश्चय कर लिया कि बस उसके माने है बाल को इसका दंड प्राप्त होना चाहिए तो सुन सेवक सुन सेवक दुख दीन दयाला तो सेवक सेवक बने सुग्रीव से सुग्रीव का दुख जब भगवान ने सुना तो दीन दयाला भगवान को दीन दयाल है तो सुग्रीव के दुख को देख करके उनके मन में बड़ी कृपा भाव दया भाव आ गई करुणा के कारण भगवान को क्या हुआ उनको सुग्रीव की रक्षा करने के लिए सुग्रीव की रक्षा के मैंने धर्म की रक्षा इसलिए भगवान धर्म की रक्षा के लिए सुग्रीव की रक्षा के लिए फर्क उठी तो भुजा विशाला भगवान की दोनों विशाल भुजाए फर्क मैंने भगवान की दोनों विशाल भुजाएं किस लिए कि धर्म की रक्षा करने के लिए इसलिए एक हाथ में धनुष दूसरे हाथ में बाढ़ दोनों भगवान के जो दोनों भुजाएं मैंने बालू को मारने के लिए तैयार हो सुन सुग्रीव मारी हूँ बाल हूँ एक कही बान और उस समय भगवान क्या कहते हैं कि देखो सुग्रीव अरे बाल जो है वो हो उसने बड़ा धर्म का कार्य किया है मैं <clears throat> सुनो मैं उसको बाली को एक ही बाण से मार दू मन विलम्ब नहीं लगेगा बहुत जल्दी उसके बाल को मैं कट कर दूंगा एक बाण से मार अब बाल सुग्रीव ने बाली के बड़ी शक्ति का वर्णन किया था जब कथा सारी सुनाई तो बालिका कितना का कैसा था कैसे मायावी राक्षस को कैसे मारा दिल्ली राक्षस को कैसे मारा और कितने कितने शक्तिशाली राक्षस थे उनका बंद कर दिया ये भी सब बताया अब इसमें तमाम कथा उसकी बालिकी नहीं बताई है लेकिन ये भी सुग्रीव ने बता दिया बाल को कि बाल इतना शक्तिशाली है और इतना उसके शरीर में फुर्ती है कि वो प्रातः काल तो पूर्व दिशा में समुद्र में जाता है समुद्र के किनारे खड़े होकर के सूर्य को सूर्यांजल देता है और वो वहाँ पर वो सवेरे प्रातः काल जो संध्या बंधन होती है तो पूर्व समुद्र में करता है पूर्वी घाट में और संध्या के समय जब सूर्य डूबने लगता है तो पश्चिमी घाट वाले समुद्र में जाता है कूद करके और वहाँ जा करके वहाँ सूर्य की वंदना करता है और तो वहाँ जा करके संध्या बंधन पश्चिमी घाट पर करता है समुद्र का हम्म। एक तरफ जहाँ गोवा वहाँ पहुँचता है और दूसरी तरफ वो जो वहाँ पर उसका चलाता है वो विद्यापुर दिव्या कर्तव्य वगैरह जिस तरह है उस तरफ जा करके जाता है इतना छलांग लगाता सवेरे से शाम तक उसके लिए इतना यात्रा छलांग लगाना जाना कोई कठिन बात नहीं एक बार रावण आ गया था तो उसने इसके बाली के पास तो उसने देखा कि हमें सब विजय ली है और ये बाली कहते हैं बड़ा शक्तिशाली है तो बाली के पास वो आया तो जो समय की बाली सवेरे बैठा कर रहा था अपने पूजा भगवान की कर रहा था उसी समय ये रावण आ गया तो रावण आकर के उपद्रव करने लगा तो बाली ने उसको पकड़ करके जैसे कोई गुड़िया हो जैसे बगल में उसे दबा लिया उसे बाली को और अपनी पूजा उजा करता रहा और दबा रहा उसे महीने भर दबा रहा बगल रावण बहुत तड़फड़ाता कर तो रावण का जो है वो पिता और बाबा ये सब लोग दौड़े आए अपने बेटे को छुड़ाने के लिए तब बाल से हाथ हाथ जोड़े का बेचारे को छोड़ दो कहा कब तक जागे रहोगे बगल से तब उसको जो है बाली ने उसको छोड़ा तो वो रावण जो है वो बाली जो है वो रावण रावण को कुछ नहीं समझता हाँ? तो इतना अब वो बाली ये भी समझता था जब बाली मरने लगा भगवान राम ने बानस को मार दिया तो बाली तो ये समझ रहा था कि अरे सुग्रीव की ताकत क्या है ये आपने उसका पक्ष लिया हमारा पक्ष लेते रावण को दम्बक में बह रहे थे आपको कुछ न करना पड़ता हम जो सीता ग्रहण कर ले गए रावण उसको आप नहीं बैठते कहते आप आपको तो सुनना नहीं बैठो हम अभी मार करके बुलाते लाते हैं अब वो तो हम जहाँ जाते हैं लंका में कैसे तो जाने लगता है वैसे सीता का लेकर ले चले जाओगे ऐसी तो भगवान ने कहा कि ये ऐसे अहंकारी व्यक्ति को साफ करना चाहिए हम्म? तो उन्होंने <clears throat> बाली को मारने की प्रतिज्ञा कर दूंगा कभी सुन सुब्री मारी हूँ बाल हूँ ये कई बाम कहते हैं ब्रह्म रुद्र शरणा जब गए नव बरही प्राण ये भी कहते अगर वो भागे और बचने के लिए और शरण में जाए ब्रह्मा के शरण में जाए शंकर जी के शरण में जाए तो भी उसको बचेगा नहीं तो ये सुग्रीव को आश्वासन देने की बात थी भगवान की कहा कि देखो तुम निर्भर हो सुग्रीव डर रहा था अब सुग्रीव को डर कैसे छूटे तो जब सुग्रीव को डर छुड़ाने के लिए भगवान ने कहा कि तुम डरो नहीं उसको हम एक मार से मार देंगे तुम डराओ नहीं और अगर वो भाग करके कोई और लोगों को भी सहायता ला देगा तो वो बचेगा अब बाल को थोड़ा लगाते हाँ हम जैसा विश्वास करते थे कि शक्तिशाली दो पुरुष आ गए हैं तो शक्तिशाली कुछ हैं लेकिन अब आगे आप देखेंगे कि वो सुग्रीव फिर भी संदेह प्रकट करता है कहते आप कहते जरूर एक बांग से मार दे एक का कहते थोड़ा हमारा तभी को मरता नहीं भाई बड़ा शक्तिशाली है वो आप कैसे मार दोगे अब वो आगे चल करके जब कथा आएगी तब आप देखना तो फिर वो भगवान सिद्ध करेंगे कि हमें इतनी शक्ति है तब वो जो है वो बालू से भी ज्यादा शक्ति है तो भगवान राम सिद्ध करके सुग्रीव को दिखाएंगे नान्या स्पृहा रघुपते हृदय सुमदीये सत्यम वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुकुन्दरनिर्भराम् कामादिदोषरहितम् कुरु मानसञ्च श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम